वो तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें मुकर्रा वक्त तक मोहलत अता फरमाएगा बेशक जब अल्लाह का मुकर्र वक्त आ जाए तो ताखिर नहीं की जाती काश के तुम जानते